वाल्मीकि आश्रम पर सुग्गी सुग्गा करें गुजर उधर श्री वाल्मीकि रामायण करें तया राम के जन्म से पहले रामायण तैयार है श्री वाल्मीकि प्रचार है राम के जन्म के पहले रामायण तैयार है श्री वाल्मीकि प्रचार श्री राम के पहले रामायण तैयार प्रचार किए वाल्मीक ज्ञानी खबर का ही पूरे कथा का सुनावे सुने सुगी सुगा दोनों चीत ठानी गए मुनि संग जनक मख देखन फिर फूलवारी में सीता सयानी घने वृक्ष पर सुगी सुगा बैठ कर होई राम सीता से शादी बखारी होई राम सीता से शादी कोई राम सीता मनवा में थाना नवा सीता सुंदरी हो ठान मनवा में ठाना नवा सीता सुंदरी पकड़ मंगा हमें सिया सयानी सुगी सुगा दोनों प्राणी हो सीता सुंदरी पूछन लागी सब करा नवा हाँ, सीता लागी सब करा हाँ तब सुगी बतलावे सारा कह के कथा सुनावे हो सीता सुंदरी सारा विधि कैली थाना सीता सुंदरी सारा विधि कैली गानवा सीता सुंदरी सारा विधि कैली गानवा सीता सुंदरी हाँ सीता कहे तू है स्नेह ना राम से जब तक जोड़ब हो सीता सुंदरी तब तक छोड़ब ना बंधना सीता सुंदरी तब तक छोड़ब ना बंधना सीता सुंदरी तब तक छोड़ब ना बंधना सीता सुंदरी जब सुगा तब जान गवाया सुगी सीधे साप सुनाया श्री वाल्मीकि प्रचार किए तुहरो छुटी पति से साथ घात बरियार काल में राम के जन्म के पहले रामायण तैयार में श्राप दे सुगी स्वर्ग गई भैल राम सीता से शादी है जाना जब अपने मन में है दशरथ बिचारे की राम का राज तिलक मन ठाना झगड़ा लगाई मंथरा के कई से भरत ना निहाल करे गुजराना तब से मांग बरदान लई तब राम कबन राज भरत रामचंद्र का है संग में लकर छोटा भाई भाई संग में लकर छोटा भाई ये भाई संग में लकर छोटा भाई हाँ सिया सुकुमारी राम संग राजित गए सुर सर नग जाए ये भाई गए सुर सर नग जाए ये भाई गए सुर सर नग जाए हाँ सुर सर पार कर राम लखन सिया के वक्त चले विदा पाए भाई के वक्त भाई दशरथ कर गवार हे भाई दशरथ कर गवार हाँ, माता का भारत बहुत फटकारा मीनन राम से जा हे भाई मीनन राम से जा हे भाई मीनन राम से जा मिल राम से नंदी ग्राम भरत जी पूजा करे तहिथाम श्री वाल्मीकि प्रचार किए वहाँ से बढ़े राम सुनिया आगे कह व्यवहार है श्री वाल्मीकि डेरा दंडक बान दीना तो राम लखन सिया पंचवती सिया राम लखन डगरत बन में मिली सूरत पणखा कहनारी बनावा हमें राजन ढंग से नाक कतर लिया लक्ष्मण सुनकर लड़न आया खरदूषण जर झगड़ा कर बाढ़ी गई मारिच मिर्गा बना कंचन के भरन मारिच मिर्गा बना कंचन के भरन मारिच मिर्गा बना कंचन के भरन मिर्गा मार